तत्व भवंती क्या न तो इतना है और भी उसके साथ होते भिखारी दुख धर्म मुख्यांग में तो श्वास प्रसाद विक्षेप सह भुव विक्षेप सह भुव विक्षेपण सह भवंती विक्षेप सह भुव दुखम च दर्मनश्यम च अंगमेज स्वम च साकस्य द्वंद्व हो जाएगा दुख दर्मनुष्य अंगमेज तो अंग में कंपन सास प्रसास विच्छेद के साथ होने वाले ये भी साथ रहते विघ्न है दुख है दुखम दुख का लक्षण तर्क संग्रह क्या बताते हैं सर्वेशा प्रतिकूल वेदन अनुकूल वेदन सुख है प्रतिकूल वेदन दुखम अधर्म मात्र विशेष कारण क्या है अधर्म मात्र विशेष कारण दुख है धर्म मात्र विशेष कारण होता है जिसका होता है सुख अधर्म जिसका विशेष कारण और क्या है न्याय है धर्म मात्र विशेष कारण है सुख अधर्म मात्र विशेष कारण है दुख है क्या उत्तर देश उत्तर देश मत मतलब में देश विशेष दुखम आध्यात्मिकम आधिभौतिकम आधिदैविकम च तीन प्रकार है ये न अभियता प्राणिन तद है प्रयतन थे तद दुखम जिसे पीड़ित होकर प्राणी उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वह दुख है है नहीं प्रतिकूल वेदनियम दुखम आध्यात्मिकम शारीरम व्याधिवशात मानसम कामाधिवशात आध्यात्मिक दुख है शारीरम शरीर भवम शारीरम शरीर में क्या दुख होता है व्याधिवशात रोगों के कारण एक दूसरा हो गया मानसम मनुष्य भवन मानसम मानसम किम दुखम शारीरम दुखम मानसम दुखम मानस दुख क्या है काम कामादिवशात मन में दुख काम क्रोध लोग इत्यादि आदि भौतिकम व्याघ्रादि जनितम भूत के कारण व्याघ्र सर्पादि जो रहते हैं भगवान दुख आदि दैविकम देव के अधीन ग्रह पीड़ा दृष्टि आदि जनितम तत्म दुखम प्राणी मात्र से प्रतिकूल वेदनीयतया हेयम क्या सब के लिए प्रतिकूल वेदनीय इसलिए हेय त्याज्य ये नभियता प्राणी उसके निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और तो दुख है तो क्या है धर्मनस्य इच्छा अभिघाता चेतस शोभ इच्छा को चाह करता है प्राप्त नहीं होने पर चेतन क्षोभ होता है यही तो होता है संसारी दुखी जो संभव नहीं इच्छा करता है प्राप्त तो नहीं होता है संभव हो अपने कर्म में ये तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा इच्छा किंतु करता है नहीं मिलने से शुभ होता है तो गर्मन से आगे अंग में आगे अंगम एजयत यद अंगानी एजयती कंपेयती तद में एजयतम अंग में कंपन अभ्यास करते समय थोड़ा अंग में कंपन हो जाता है अंग में एजयत कोई कोई ध्यान में बैठते समय सर में थोड़ा कुछ कंपन हुआ उसको सिद्धि मान करके लोग दिखाते थे तो सर में कंपन होता है ये कुछ नहीं ये विक्षेप के अंतर्गत प्राणो ये आगे अंग में जब आगे श्वास आगे प्रश्वास प्राणो यद बाह्य वायु आशामती तत्व प्राणी प्राणी है प्राणु या प्राणी प्राणु इसमें तो प्राणी कथा हुआ किंतु प्राण प्राण जो प्राणवायु बाह्य वायु आगामती तत्वाथ बाह्य वायु का ग्रहण करते उसको कहते श्वास और बाहर निकाल के छोड़ते उसको कहते प्रश्वास ये श्वास प्रश्वास भेद अंदर ग्रहण करते उसका नाम श्वास बाहर छोड़ते उसका नाम प्रश्वास यद कौक्षम वायु वायु निस्तारित सप्रश्वास पेट में स्थित वायु को बाहर छोड़ता है वो प्रश्वास है एक विक्षेप सह विक्षिप्त चित्त से ऐसे भवन विक्षिप्त चित्त में विक्षेप के साथ ये होते हैं समाहित चित्त से ऐसे न भवन समाहित चित्त होने पर ये नहीं होते हैं वायु में श्वास प्रश्वास किया इसे तो साथ को तो ग्रहण करते छोड़ते हैं फिर भी ये प्राण को रोकते समय रेत का कुंभक करते हैं बाहर छोड़ते हैं बही कुंभक करते हैं अंदर ग्रहण के अंत कुंभक करते हैं उसी समय ये विघ्न होता है अनिच्छत प्राण यद बाह्य बाह्य वायु आचामती इच्छा नहीं करते समय बाहर छोड़ दिया वही कुंभ कर तो रहा है ग्रहण नहीं करना चाहता है किंतु जो इच्छा नहीं करने पर भी बाहर बाहर ग्रहण कर लेता पीबती असामधिका से पीबती पीता है अंदर ग्रहण करता है उसका तो प्रवेश है कि अंदर प्रवेश करता है कि या बना सस्वास समाधि अंग रेचक विरोधी समाधि का अंग रेचक है रेचक पूर्वक है उसका विरोधी है बाहर छोड़ना है छोड़ कर रखना है रेचक छोड़ करके रुकना है कुंभ को करना किंतु इच्छा नहीं फिर ग्रहण कर दिया है विरोधी हुआ की प्राण जब कौशम वायु इच्छा रहेगी इच्छा नहीं करने पर भी अंदर जो वायु उसको छोड़ देता है ग्रहण करके अंत कुंभ को करना चाहता है अंदर वायु को रखने रखना किंतु इच्छा नहीं हो तो बाहर छोड़ दिया ये हो गया वसवास निश्चार यदि निश्चार से निकलता है चलाता है छोड़ देता है तो सब प्रश्वास ये भी समाधि के अंग पूर्वक का विरोधी पूर्वक में तो भरना अंदर भर कर रखना बीच में छोड़ दिया तो उसका विरोधी हुआ ये सब तो वो विच्छेद है उत्तार के उपसार सूत्र अवतार थी इसे अर्थ उपकार करने के सूत्र है आगे सूत्र उसका अवतरण करते हैं सूत्र के भूमिका अथ विक्षेपा समाज प्रतिपक्षा एवं अभ्यास वैराग्याभ्याम विरुद्ध तत्र अभ्यास से विषय उपकरण इधर ये विक्षेप को भी निरोध करना है अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोध पहले कहा गया था इस वृत्ति को रोकने के लिए भी अभ्यास और वैराग्य साधन है ये भी जितने विक्षेप है समाज के विरोधी है उनका भी निरोध करना है अभ्यास वैराग्य से बार बार अभ्यास करना और जितने दोस्त दोष दृष्टि करके वैराग्य भावना करने पर ही निरोध होता है यही साधन है समाधि प्रतिपक्ष समाधि के विरोधी साध्यान वो उसी अभ्यास वैराग्य अभ्यास है अन्य कोई साधन नहीं सरल साधन कोई नहीं अभ्यास नहीं करेंगे सीधा ही मिल जाएगा कोई सीधा ही शक्ति प्राप्त करे तीन में हाथ लगाए परमात्मा साक्षात करा दें साक्षात्कार करा दें तथा वैराग्य नहीं है ऐसे ही मिल जाए कोई ऐसा नहीं करना पड़ता है अभ्यास वैराग्य भी आवश्यक है उसे निगत करना है तत्र अभ्यास से विषय उपसहरण इधम आहार अभ्यास का विषय उपसहार करते हैं कथन करते हैं और कहते हैं टीका में अथ उत्तार्थानंतरम अथ ऐसे विषय का पूर्वोत्तर अथ कथन के बाद उपसहरण इदम सूत्र माह इस संबंध अभ्यास की विषय उपसार करते हुए सूत्र कहते हैं निरुद्धव्य हेतु रुकता इनको रुकना क्यों है निरुद्धव्य अकस्मात हेतु कह दिया समाधि प्रतिपक्ष क्योंकि समाधि के ही इसे निरुद्ध करना चाहिए यद्यपि ईश्वर प्रणिधानाद इस अभ्यास मात्र मुक्तम ईश्वर प्रणिधानाद वाह ईश्वर का ध्यान करने से ही समाधि की सिद्धि ईश्वर का चिंतन बार बार करना तो प्रणिधान अभ्यास करना अभ्यास करके एकाग्र करना है वहाँ वैराग्य नाम नहीं तो केवल अभ्यास से हो जाएगा तथापि वैराग्य यह से ग्राह्य विद्या यहाँ अभ्यास के सहकारी वैराग्य भी चाहिए दोनों होने पर ही निरुद्ध होता है अभ्यास वैराग्य अभ्यास साध्यम उक्त लक्षणाध्यान एवं अभ्यास वैराग्य विरुद्ध निरुद्ध गया लक्षण कहा था अभ्यास का सूत्र तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास वैराग्य के लिए क्या सूत्र है ज्येष्ठानुसर्वी विषय विष्णु से और तत्परम उक्त लक्षणाध्यान उक्त ते लक्षण ययो हो अभ्यास वैराग्यो हो आगे उत्ते लक्षण ययो हो अभ्यास वैराग्यो हो आगे क्या कहेंगे हम्म? तो अभ्यास के पहले प्रशांत करना पड़ेगा उत्ते लक्षण जयो हो आगे जयो अभ्यास वैराग्य ते ते आगे अभ्यास वैराग्य ययो अभ्यास वैराग्य ते अभ्यास वैराग्य किम उक्त लक्षण उत्तम उक्ते लक्षण ययो अभ्यास वैराग्य ते अभ्यास वैराग्य क्या है उक्त लक्षण आगे ताभ्याम उक्त लक्षणाध्याम जिनका लक्षण पहले कह दिया गया अभ्यास वैराग्य उन अभ्यास वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए तत्र अभ्यास से विषय में उपसारण तयोर अभ्यास वैराग्य और मध्य तत्र का दोनों में जैसे पहले कहा था तत्र से कोई अपना अभ्यास तय अर्थ में तत्र है अभ्यास वैराग्य मध्य अभ्यास से विषय उपसहर विदला अभ्यास का विषय समाप्त करते पूर्व में कहा ये सब जितने विक्षेप है विघ्न है उनको निरोध करने के लिए अभ्यास करना है ये अभ्यास का विषय अनंत रूप सत्य अभ्यास से तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास ये सब जितने विघ्न है उनका निषेध करने के लिए एक तत्व से अभ्यास एक तत्व अभ्यास एक आलम्बन चित्त करे उसका अभ्यास करे एक तत्व ईश्वर ईश्वर का प्रबंध चल रहा है विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्व आलम्बन चित्तम अभ्यसे तत्प्रतिषेधार्थम तेषाम प्रतिषेधार्थम तेषाम विक्षेपान जो अंतराय है साथ रहने वाले विच्छेद उनके साथ रहने वाले ये सब का निषेध करने के लिए निराकरण करने के लिए एक तत्व से अभ्यास एक तत्व आलम्बनम एक तत्व आलम्बनम यस्य तस्य चित्त से सचित्तम एक तत्व आलम्बनम चित्तम अभ्यास अभ्यास करें एक तत्व का तो ईश्वर सचतत्वाद वैनाशिका नाम तत्सर्व एकाग्र में चित्तम नास्ति विक्षिप्त विक्षिप्तमिति तद उपदेशा नाम पदार्थान च प्रभुते नाम वैरसमित्या वैनाशिक विनाशम इच्छन्ति थे वैनाशिका बौद्धा प्रतिक्षण नाश कहते हैं पर्वत हो सूर्य चंद्र आदि दिखते सामने जो वस्तु है प्रतिक्षण नष्ट हो जाता है नष्ट और उसकी उत्पत्ति होती है क्षण क्षणिक सब चित्त भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है एक क्षण चित्त में जो विषय ग्रहण हुआ द्वितीय क्षण चित्त अलग हो गया उसी विषय ग्रहण करे साम्य ग्रहण करे उसका तालंबन एक ही हुआ एक हो और साम्य करो प्रथम चित्त से प्रथम चित्त से घट का ज्ञान हुआ द्वितीय चित्त से पट का ज्ञान हुआ तृतीय चित्र में पुस्तक का ज्ञान हुआ किस चित्त को विक्षिप्त मानेंगे प्रथम क्षण चित्त विक्षिप्त है एक विषय विजेता आलम नहीं दूसरा किसी विषय की इसका विषय की चतुर्थ क्षण में पट पुस्तक का ज्ञान हुआ इसको विक्षिप्त कहेंगे एक साथ विचार तो कर एक क्षण में सबको देखा कोई एक विक्षिप्त तो नहीं एक ही चित्त यदि रहे लगातार एक विषय में होकर अन्य अन्य विषय हो गया तो विक्षेप कम चित्त ही बदल गया अलग अलग चित्त है एक व्यक्ति घट को देख रहा है एक व्यक्ति पट को देख रहा है एक व्यक्ति महादेव का ध्यान कर रहा है वे आकाश को दिख रहा है किसका मन विक्षिप्त मान सब तो अलग लगेगा कि वे अलग जो घट को देखता है लगातार घट को देखता है लगातार देखता है तो विक्षिप्त हुआ वे आकाश को देख रहा है लगातार कोई महादेव का ध्यान कर रहा है विक्षिप्त कैसे होगा एक ही चित्त हो उसमें प्रशिक्षण विषय बदले तो विक्षिप्त मानेंगे वैनाशिकानंद सर्वम एकाग्र में विक्षिप्तम सब चित्त एकाग्र ही है क्योंकि चित्त प्रशिक्षण नाना आपका जो चित्त है एक नहीं है प्रशिक्षण भिन्न भिन्न है ऐसे प्रशिक्षण भिन्न है तो उसका जो विषय हो वो तो एक ही एकाग्र ही चित्त है नास्तिक विक्षित कोई चित्त विक्षित नहीं इसलिए उसको एकाग्र करने के लिए उपदेश और उसके लिए प्रवृत्ति व्यर्थ है उपदेश करते एकाग्र क्या एकाग्र करना चित्त तो एकाग्र है ही एक भी तो चिंतन करता तो है अनेक भी चिंतन करें लगातार एक अनेक चिंतन करता है तो भी विच्छेद नहीं उसका तालम रहिए अलग अलग नहीं है उसके लिए प्रभुति भी व्यर्थ है यश्य तू दास्य में प्रत्यर्थम नियतम प्रत्यय आश्रम क्षणिकम च चित्तम तथा सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नाट्य व विक्षिप्तम यश तो प्रत्यर्थम नियतम अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम नियतम निश्चित है चित्त का विषय अलग अलग चित्त है जिसका चित्त जो विषय निश्चित है अलग एक चित्त नहीं है इसलिए अनेक विषय बदलता नहीं विक्षेप ही नहीं प्रत्यय मात्र क्षणिकम प्रत्यय सामान्य जितने प्रत्यय सब क्षणिक है सब उत्पत्ति नाश प्रतिषण हो रहा है क्षणिकम प्रत्यय मात्रम प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम प्रत्यय मात्र ज्ञान प्रत्यर्थ नियत क्षणिकम से चित्तम चित्त क्षणिक है तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्र चित्त जितने तो एकाग्र ही एक ही एकम अग्रम ये तथा एकाग्रम एक ही उसका आलम्बन है नाट्य विक्षिप्तम विक्षिप्तम चित्तम नास्त्यव यस्य मते प्रत्यर्थ आगे क्या कहते हैं प्रत्यर्थ के आगे पाठ क्या टीका में अर्थ्यमाने एकस्मिन अनेकस्मिन हुआ अर्थ्यमाने अर्थ्यते अर्थ्यमान मान जिसको चाहते हैं चित्त का विषय जिसे अर्थ्यमाने ऋणत्व नहीं होगा छीन आ गया एकस्मिन कोई एक को तो चाहता है तो एक में चित्त स्थिर है कोई अनेक तो देखता है गाव हो सबको तो देख रहा है तो एक हो अनेक हो निश्चित है चित्त नियतम यावद अर्थाभासम उत्पन्नम तत्र समाप्तम अनन्य ज्ञान जितने अर्थ रूप से भाष होते क्योंकि अर्थ भी उनके मत के अनुसार कोई है नहीं बाह्य वस्तु सब क्षण कहे है नहीं ज्ञान में जो विज्ञानवादी कहते ज्ञान में सब उत्पन्न होते हैं बाह्य घटपट पर्वतादि कुछ है नहीं विज्ञान में सब है इसलिए यावत अर्थाभासम अर्थ रूपेण आभाषम थे अर्थाभाषम जो विषय रूप से दिखते हैं बाहर उत्पन्न होते प्रतिक्षण तत्र समाप्त वही समाप्त हो गए प्रत्येक चित्त का विषय हो गया अन्य ज्ञान अन्य गच्छति अन्यगामी चित्त न अन्य गाने से अनन्यगामी अन्यत्र नहीं जाता है चित्त उसमें रहेंगे प्रतिक्षण अन्यत्र जाने के लिए और क्षण चित्त रहे तो जाएगा विषय का नष्ट हो गया अन्यत्र जाने की समय ही नहीं है तो, तो चित्र एकाग्र हो गया चित्त अर्थांतरम तावत प्रथम गृहित अर्थांतर में भी पचास स्नान गृहना पहले एक को ग्रहण किया उसके बाद अन्य अर्थ को ग्रहण करेगा चित्त क्यों नहीं करेगा विक्षिप्त क्यों नहीं होगा सिद्धांत के विरुद्ध में शंका आने पर सिद्धांत समझाता है उनके मत में क्षणिकम तो चित्तम प्रतिक्षण उत्पत्ति है नाश है दूसरा क्षण भी चित्त रहे तो अन्य अर्थ ग्रहण करेगा प्रथम क्षण ग्रहण हुआ जिसे उस समय नष्ट हो गया द्वितीय क्षण चित्त रहा ही नहीं तो फिर विक्षेप होने के समय ही नहीं रहा क्षण अभिद्य तेन पूर्व पश्चात भाव अभाव एक क्षण में पहले ग्रहण के आयोजित दूसरे क्षण में दूसरा ग्रहण करेगा ये भी नहीं बनेगा क्षण अति स्वल्प समय अभेद्य है अभिन्न है उसका अवय पूर्व पश्चात भाव नहीं है प्रथम क्षण का क्षण तो होता है अवैकल्प है उसमें फिर पूरा पश्चात लाभ नहीं होने से चित्त तो एकाग्र ही है अस्मय अक्षणिकम चित्तम हमारे मत में क्या है सिद्धांत कहते अस्मय सिद्धांत चित्तम क्षणिक नहीं स्थायी अक्षणिकम चित्तम स्विषय एक अनेक निवास एक विषय में हो तो गो को देखता बहुत गो को अनेक है किंतु चित्त का जाने को गो देखना छोड़ करके दूसरे कुछ देखने लगा तो अनवस्थित हो गया चित्त में से एक विषय को देखता है कभी उसको छोड़कर अन्य को देखने लगा गो गोपाल को देखने लगा गोपाल को छोड़कर गाय को देखने लगा गाय को छोड़कर किसी दूसरे दूसरे दिखने लगा तो अनवस्थित होता है चित्त प्रतीक्षा में अनवस्थित होने से उसके लिए उपदेश किया जाएगा अभ्यास करके चित्त विक्षिप्त है तो उसको निरोध करे प्रयत्न भी सफल सफल है तत्त विश्व उपादान परित्यागाभ्याम विषयानितम विक्षिप्तम हमारे मत में चित्त में विक्षिप्त होता है विक्षिप्त होता है तत्त विषय का उपादान उपादान का तो ग्रहण परित्याग एक नया विषय को देखने लगा पुराने विषय को छोड़ दिया विषय देखते हैं चिंतन करते हैं तो खाली आंख से देखना नहीं चिंतन भी कुछ एक चिंतन करते हैं फिर दूसरे चिंतन करने लगे इसको छोड़ दिया उस समय कहीं सुनाई पड़ा क्या कह रहे हैं उसको सुनने लगा फिर किसी सूत्र उठने लगा फिर बाद में कहीं सूत्र आ गया रिंग क्या है उधर देखो ऐसा करना पड़ता है ना थोड़ी पुस्तक रखते हैं चित्र जगह अरे देखो <laughs> इसमें भी ध्यान करना पड़ता है फिर बाद में कोई बात करे क्या हमारे बारे में बोल रहे हैं <laughs> उसमें सुनना ये से तो विक्षेप होता है एक विषय का उत्पादन ग्रहण अब तो लघु लघुकम रहे रहेगी फिर इधर बात करने लगे लघु लघुकम कौन पूछता है <laughs> तो ऐसे पड़ा रहे परिचय दूसरे परिचय का ध्यान विषय अनितम विक्षिप्तम चित्तम चित्त विषय से विषय में नियत नहीं रहा अनियत हुआ इसको कहते विक्षिप्तम अतो विक्षेप परिणाम अप, परिणामम अपनीय शक्ति एकाग्रता आघातों में थी तदुपदेश प्रवृत्ति नान तक में क्या है विक्षेप परिणाम को अपनीय हटा करके चित्त में परिणाम मृत्यु होती है विक्षेप होते हैं इनको हटा करके सत्य ये एकाग्रता आधातुम एकाग्रता आधातुम सत्या एकाग्रता की जा सकती है चित्त के द्वारा सत्या एकाग्रता आधातुम एकाग्रता आधातुम सत्या एकाग्र की एकाग्रता की जाती चित्त में की जा सकती है इसलिए इति अस्मात् कारणात तदुपदेश प्रवृत्ति नानर्थक उपदेश भी अनर्थक नहीं चित्त को एकाग्र करने के प्रवृत्ति भी अनर्थक नहीं है बौद्ध मत में उपदेश भी दर्थ प्रभृति दर्थ इस प्रकार से विषय एक एक ही और क्या तो एकाग्र करना इतिहास यदि पुनः भाष्य में प्रत्ययमात्र अनियत अक्षण समझ चित्तम तसे सर्वमेव चित्तम एकाग्रम सब चित्त एकाग्र नास्त्यव विक्षिप्तम देवी यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एक अर्थे समाधीयते तदा भगवत एकाग्रमिति अतो न सत्यनियतम सब वो हटा करके चित्त को एक अर्थ समाधीये अन्य अन्य विषय हटा करके एक अर्थ में समाधान करेंगे तो चित्त रहना चाहिए चित्त ही नष्ट हो जाएगा तो दूसरे हटाते समय चित्त ही नष्ट हो गया चित्त रहे अन्य अन्य विषय से हटा करके एक अर्थ में समाधान करेंगे चित्त को तो भगवत एकाग्र चित्त एकाग्र होता है इसलिए ये सिद्ध हुआ अतो न प्रत्ययतम चित्तम चित्त में इसे निश्चित ही अमर का विषय ज्ञान प्रतिक्षण नष्ट हो जाता है ये जो वैनाशिक का सिद्धांत वो ठीक नहीं है हाँ अतो न प्रत्यर्थनियतम अतो न नियतम उनका कथन करना प्रत्यर्थ नियत है प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त है अलग अलग अर्थ के लिए अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम नियतम चित्तम चित्त क्षणिक है सबका तो विषय अलग अलग है वही घट भी हो तो घट चित्त अलग दूसरा आदि चित्त अलग तो अलग अलग घट भी है चित्त भी है ऐसे जो घट हो ठीक नहीं चित्त ये अनेक विषय एक बार दूसरा एक बार तीसरा ऐसा देखे चित्त रहे तो वह बहुत विषय सटा करके एक विषय में मन लगाए तब समाधान समाधि होती है एकाग्र होता है उपकार से अस्तु न प्रत्यनीय प्रत्यर्थनीयतम नियतम उत्थापयती योगी भी वैनाशिक मत का कथन करते योगी सदृश प्रत्यय प्रवाह न चित्तम एकाग्र मनते तस्यद एकाग्रता प्रवाह चित्त से धर्म तदेकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वा बौद्ध लोग इसके ऊपर कहते हैं क्षणिक चित्त तो है सब वस्तु भी क्षणिक है किंतु प्रत्येक यहाँ की स्वयं घट स्वयं लेखन वही कलम हुआ है स्वयं निबदत वहम बाल्य चितरम अन्न स्वयं सवेरे प्रणकृन अनुभवान बाल्यवस्था में तो पितरऊ अन्न पिता माता के पिता का पितरऊ माता पितरऊ भी बनेगा पितरऊ भी बनेगा पिता मात्रा द्वंद्व समास पिता सबको मात्रा मात्रा सबको पिता जिससे समाज करें तो पितरऊ माता से पिता देते पितरऊ पहले बचपन में माता पिता को देखा था अभी स्वर्ण नाथ स्वर्ण स्वर्ण को देख रहा है वही में जो सोया था जो काल कार्य किया था आज मैं वही कर रहा हूँ काल जो मैं उधर काम किया था आज मैं वही हूँ ऐसे अनुभव होता है प्रतिज्ञा होती है सोयन भट्ट प्रतिज्ञा होती है बौद्ध प्रति एक सदृश है समान जाते सजन सदृश होने से सदृश के कारण ऐसे प्रतिज्ञा हो जाती भिन्न भिन्न है एक नहीं है कभी रोग हुआ था कुछ दवाई औषध सेवन किया था अभी रोग होने पर कोई औषध ला कर दिया कहता हाँ सदैव औषधम वही औषध में पहले खाया था तदेव औषध निधम वही औषध ये जिसका सेवन में पहले किया था वही औषध जिसका सेवन कर लिया था वही औषध अभी है और दूसरा है तो सजाते उस नाम का उसी प्रकार तो हो जिसको पहले एक साल पहले खाया दिया था वो औषध अभी है तदे तदेव एकदम औषधम वही औषध ये जिसका सेवन में पहले किया था सजातीय में सादृश्य होने के कारण ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान लोग में भ्रांति नहीं मानते हैं हाँ, ठीक हाँ ठीक वही डॉक्टर भी कहता हाँ वही वही दवाई जिस दवाई ने लिखा था वही दवाई तो कहते वही दवाई ने लिखी थी तो सजातीय होने पर भी स्वयं ऐसे प्रतियोगिता होती है और किस वेश पोशाक देख करके किस व्यक्ति को देखते हैं ये गुरुजरी फिर बाद में एक दूसरे को देखा अरे ये सही तो हाँ सेयम गुर्जर सायम गुर्जर वही वही नहीं उसके समान देख करके हाँ ये सेयम गुर्जर वो गुर्जर वही दीप सिखा है नीचे से ऊपर चल रही है जाकर देखो एक घंटा छोड़ दिया देखा सेयम दीपकलिका वही जो मैं लगाते समझती वही पास में जाकर देखो वही कहते नीचे से ऊपर सिखा नहीं है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है तो भी संयम का जैसे प्रतिज्ञा होती है सादृश्य को लेकर के संयम गुर्जरी जिसको पहले देखा था उसका सम्मान देश पोशाक पहने हुई हाँ ये तो हुई है गुरुजरी इसी प्रकार प्रतिभिज्ञा होती सादृश्य को लेकर के हुई तदेव इदम औषधम इसी प्रकार ये घट लेखन में भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश है सदृश है उसके सदृश कलम उसकी उत्पत्ति होगी अभी मेरे हाथ देखो कितने क्षण उत्पत्ति नष्ट हो ही करो तो सदृश होने से कहते थे ये लिखा ऐसे वो लोग देते हैं युक्ति बहुत लोग वो क्या होगा चित्त में भी इस प्रकार चित्त भी प्रतिक्षण चैत्र मैत्र के चित्त सबका अलग अलग है प्रत्येक चित्त की उत्पत्ति नाश चित्त का प्रवाह चलता है सबका प्रवाह अलग है चित्त प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला चित्त सबका अलग अलग है इसको कहते प्रवाह चित्त शब्द से प्रत्यय प्रवाह है ना चित्तम एकाग्र थे तो चित्त घट विषय का चित्त है आगे भी घट विषय का चित्त फिर आगे घट विषय चित्त चित्त का प्रवाह तो है समान विषय का ग्रहण करेंगे शब्द प्रत्यय होगा तो चित्त एकाग्र कहेंगे प्रवाह एक प्रवाह चित्त की उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश ऐसे चलता रहता है चैत्र का चित्र अलग मैत्र चित्त अलग सबका मेरे चित्र अलग आपका सबका चित्र अलग चित्त मन अलग अलग प्रति चित्त उत्पत्ति नाच वाला तो ये जो लगातार चल रहा है इसको कहते प्रवाह प्रवाह में प्रत्येक चित्त का विषय एक हो तो प्रवाह को एकाग्र कहेंगे प्रत्येक चित्त का विषय हो गया तो एकाग्र नहीं आपका चित्त प्रवाह चल रहा है एक बार तो लघु कम दूसरे बार तर्क संग्रह ठीक है तीसरे बार शब्द श्रवण शब्द श्रवण करने लगा चौथे बार किसी बात करने लगा थोड़ी देर कुछ होकर लेट गया ये जो चल रहा है ये चित्त हुआ ये चित्त प्रवाह में लगातार यदि चिंतन हो तो इसको एकाग्र कहेंगे शब्द का प्रत्यय प्रवाह ना समान विषय का प्रत्यय का प्रवाह चले देख रहे महादेव का ध्यान करे तो महादेव का ध्यान प्रतिक्षण चलता रहे तो चित्त का एकाग्र चित्त की एकाग्रता माने चित्तम एकाग्र मनते यो मन्यते वैनाशिक अभी इसमें प्रश्न है एकाग्रता किसमें है चित्त में है या चित्त के प्रवाह के प्रवाह में है चित्त का कि प्रवाह चल रहा है प्रवाह को एकाग्र कहना है या प्रवाह में रहने वाले चित्त को एकाग्र कहेंगे प्रवाह अस्थिति स्थिति प्रवाही धनम अस्थिति स्थिति धन प्रवाह थी प्रवाही ये एक प्रवाह है ये प्रवाह में प्रवाही कितने है हैं प्रवाही कितने है ये दिखता है ये मैं हाथ में दिखाता हूँ कितने प्रवाही पांच प्रवाह कितने हाँ ये पांच देखा और भी आगे चलता रहता प्रवाह ये सब एक एक कहेंगे प्रवाही और सब एक चलता है तो क्या क्या होगा प्रवाह अभी सिद्धांत पूछ रहा है तुम्हारी तुम्हारे मत में एकाग्रता प्रवाह चित्त की एकाग्रता है प्रवाह की और प्रवाह में होने वाले प्रवाही चित्त की एकाग्रता किसकी एकाग्रता है सत्य एकाग्रता प्रवाह चित्त से धर्म प्रवाह चित्त का धर्म कहेंगे प्रवाह नाम का कोई चित्त है क्या प्रतिक्षण चित्त अलग अलग है इसका प्रवाह चल रहा है प्रवाह प्रत्येक चित्त को छोड़ करके प्रवाह चित्त रहेगा प्रवाह में आने वाले चित्त प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाले इनको छोड़ो एकाग्रता चित्त में नहीं है किंतु प्रवाह में है चित्त को अलग कर दो प्रवाह में एकाग्रता प्रवाह क्या रहा रहा प्रवाह चित्त को अलग कर दिया तो प्रवाह ना कुछ रहा नदी में जल का प्रवाह है जल को अलग करो प्रवाह को देखो प्रवाह में जल है प्रवाही प्रवाही को तो जल को अलग कर दिया प्रवाह बढ़ जाता है छोटा हो जाता है, है? जल को तो अलग कर देने से प्रवाह बड़ा होगा छोटा होगा प्रवाह रहेगा ही नहीं प्रवाह नाम कुछ वस्तु ही नहीं तो फिर किसमें चेता एकाग्रता कहेंगे यदि एकाग्रता प्रवाह चित्त से धर्म तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम प्रवाह चित्त नाम का को कोई वस्तु है ही नहीं तुम्हारे मत में क्षणिकत्वा क्षणिक है प्रवाह चित्त नाम कोई स्थिर चित्त मानेंगे क्षणिक जो मानते हैं लगातार रहने वाले कोई चित्त मानेंगे क्या नहीं प्रवाह प्रवाहित तो चित्त अलग हो गए प्रवाह कुछ है ही नहीं प्रवाह चित्तन को तो स्थायी चित्त नहीं मानते इसे कैसे एकाग्रता किसने कहना अर्थात प्रवाह सत्य प्रत्येक धर्म प्रवाह के अंश अलग अलग प्रवाह के अंश प्रवाही प्रत्येक का धर्म कहेंगे सर्व शब्द से प्रत्यय प्रवाही वा शब्द से प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थ नियतत्वाद एकाग्र व्यक्ति विक्षिप्त चित्तानुपति तुम्हारे मत में इस किसको विक्षेप कहेंगे विक्षिप्त चित्त कहेंगे यदि प्रवाह एक चित्त प्रत्यय प्रति प्रत्यय अलग अलग है कोई घट को देख रहा है कोई दस बीस गो को देख रहा है कोई पट को देख रहा है कोई वृक्ष को देख रहा है कोई पर्वत देख रहा है सबका विषय एक हो अनेक हो विषय नियत निश्चित है सबका विक्षिप्त किसको मानेंगे सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाहिगा विसदृश प्रवाहिगा सदृश प्रवाही कहते आपका चित्त महादेव का ध्यान कर रहा है ये भी चित्त ये भी चित्त सब प्रभाव पूरा चित्त ध्यान कर रहा है ये सदृश प्रत्यय का प्रभाव हुआ समान विषय का चिंतन आप करते लगातार सदृश प्रत्यय का प्रभावी हुआ और एक व्यक्ति क्या कर रहा है विसदृश प्रत्यय कभी कुछ देखता है कभी कुछ सुनता है कभी कुछ सोचता है जो से प्रत्यय प्रभावी जो हो उसका चित्त एक है बौद्ध मत बौद्धमत सारा बौद्धमत का चित्त एक है नहीं नहीं अनेक चित्त है शब्द से चित्त न करने वाले भी चित्त अनेक है से प्रभाव वाले के चित्त भी अनेक है तो किसके चित्त को एकाग्र कहेंगे प्रत्येक चित्त का विषय अलग अलग हाँ इसके में ये विकल्प करके जो बौद्ध ने कहा प्रत्यय में एकाग्रता उसका खंडन करने के लिए पूछते हैं एकाग्रता प्रवाह में है अथा प्रवाह के अंश में है प्रवाह में तो प्रवाह चित्त को ही नहीं अंश में मानेंगे तो भी जो प्रवाह के अंश है एक व्यक्ति का चित्त समान विषय का चिंतन करे विषय प्रत्येक का प्रवाह भी हो प्रत्येक चित्त का विषय निश्चित है प्रत्यक्ष नियत है सबका चित्त एक सब चित्त एकाग्र ही है जैसे विक्षिप्त चित्त हो नहीं सकता है चित्त यदि विक्षिप्त नहीं है उसको एकाग्र करने के लिए तुम्हारा उपदेश और शिष्यों की प्रवृत्ति दोनों ही व्यर्थ हो जाएगी इसलिए क्षणिक सिद्धांत ठीक नहीं है ओ